आ जाओ आ जाओ अरे भाई धड़क अरे आराम से भाई अभी कितनी दूर है बैंक हाँ बस तो। हम पहुंच गए पढ़ो पढ़ो सामने बोर्ड पर क्या लिखा है अरे हाँ State Bank of India Madhopur बिल्कुल ठीक अरे वो वो लाल साड़ी वाली आंटी जो वो जो अंदर जा रही है हाँ, हाँ वही वो इसी बैंक में काम करती है अच्छा <laughs> अरे ये कौन है अरे बंदूक पकड़ी हुई अरे हाँ, इसे क्या हुआ ये क्या हो रही है <laughs> डर गई इस आदमी से <laughs> ओ बंदूक से डर गई है पायल बेटे ये बैंक में चौकीदार हैं अच्छा दीदी इसने ये बंदूक क्यों पकड़ी हुई है सुरेश बैंक में बहुत सारा पैसा होता है ना अच्छा तो कोई गलत आदमी बैंक में कोई गड़बड़ ना कर दे इसलिए चौकीदार रहता है यहाँ <laughs> डरो मत बिटिया डरो मत श्याम बहादुर मैनेजर साहब से कहो रमा जी स्कूल के बच्चों के साथ आई हैं जी अच्छा भाई जरा ये मैडम और बच्चों को अंदर ले जा लो बच्चों बच्चों सुनो अंदर काम हो रहा है हाँ शोर करोगे ना तो बैंक वाले वापस भेज देंगे हाँ, मैडम तो, मैं नहीं शोर कर रही देखा पायल कितनी अच्छी है हाँ? अरे आइए बहन जी आइए आइए अंदर आ जाइए नमस्कार वर्मा जी नमस्कार नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते अरे अम्मा भी आ गई वर्मा जी, इनसे मिलिए ये गायत्री जी हैं अच्छा अच्छा नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार वर्मा जी? गायत्री जी बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हैं हाँ, हाँ, हाँ, हाँ मैं ये दो सौ रूपए लाई हूँ और ये मेरा फोटो भी है <laughs> ठीक है अम्मा जी <laughs> अरे किशोर जी देखिए ये अपना खाता खोलने आई हैं बचत खाता जी हाँ बचत खाता हाँ। तो, तो आप इन्हें एक फॉर्म दे दें और उसे भरने में इनकी मदद भी कर जी हाँ जी वो भैया मुझे दस्तखत करने आते हैं <laughs> अरे अम्मा जी पहले ये फॉर्म भर दे और हाँ रमा जी को भी तो दस्तखत करने पड़ेंगे ले दूंगी रमा जी अरे ये तो पड़ी हुई है ना रमा जी तो कर ही देंगी आइए आइए अम्मा जी आइए आ जाओ आ जाओ सब बच्चे बहन जी प्लीज अरे रमा जी आप बच्चों के साथ मेरे कमरे में चलिए और वहाँ से सब कुछ दिखाई देगा ठीक है हाँ, <laughs> ये बच्चे शोर नहीं करेंगे वैसे आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी अरे वाह वाह अध्यापिका हो तो आप जैसी <laughs> देखो कैसे नोट गिन रही है वो आंटी हाँ हम्म। वो जो नोट गिन रही है आंटी है ना हाँ, हाँ।, हाँ बेटा वो हमारी कैशियर हैं अच्छा। और उनका नाम है सुजाता जी हम्म। अच्छा। और एक बात बताऊं बेटा कैशियर हम्म। को बहुत ही चौकन्ना होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है अगर पैसे गिनने में कुछ ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये सारी जिम्मेदारी जो है कैशियर के ऊपर आती है समझे और फिर उन्हें अपनी जेब से पैसे पूरे करने पड़ते हैं अच्छा। अगर पैसे कम हो जाएं तो अरे बाप रे वो देखो कैसे जल्दी जल्दी गिन रही है ना <laughs> कोई हाँ, गलती हो जाए तो हर बैंक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को खूब अच्छी तरह समझता है हाँ। बहुत ध्यान से समझदारी से काम करता है पता है छोटी सी गलती हो जाए ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है अरे उन आंटी जी ने वो कागज ही फाड़ दिया और आधा अपने पास रख लिया हाँ, और आधा उनको दे दिया अरे बेटा वही रसीद है अच्छा अंकल ये मोहर क्यों लगा रहे हैं मैं बताता हूँ बेटे मोहर पर बैंक का नाम तारीख और हर रसीद पर बैंक कर्मचारी के हस्ताक्षर हाँ, होते हैं अच्छा हाँ यानी अब बिना मुहर के कागज की कोई कीमत ही नहीं ना अच्छा। अगर वो तो फिर कोई भी कोई यहाँ से उठा के ले जाए और कहे कि जी हाँ। बैंक को मैंने इतना पैसा जमा कराया था जब मोहर होगी उसके हस्ताक्षर होंगे तभी वो समझा जाएगा कि कागज सही है सही है और पक्का है बहुत समझदार बच्चा है <laughs> अच्छा रमा जी हाँ, ये गायत्री देवी का फॉर्म भर दिया है आप ऐसे कीजिए कि आप यहाँ पे ये विटनेस पे अच्छा, जहाँ गवाह अच्छा, लिखा है ना अच्छा, यहाँ पे आप हस्ताक्षर कर लीजिए देखिए आप पैसा अम्मा जी हाँ, हाँ। हाँ, बैंक में आपका खाता खुल गया बच्चों जब कोई नया आदमी खाता खोलता है अपना बैंक में तो बैंक वाले तो उसे जानते नहीं ना अच्छा। तो जिसका अकाउंट यानी कि खाता पहले से बैंक में हो हम्म। उसे भी दस्तखत करने पड़ते हैं हाँ। पैसे जमा करवाए थे वो आंटी उस हाँ। रजिस्टर पर क्या लिख रही है वो जो सामने बैठी है वो है सीमा जी हाँ, अच्छा। वो हमारी लेजर कीपर है वो रजिस्टर हम्म। में सारा हिसाब किताब रखती हैं अच्छा। अरे सीमा जी जरा इन बच्चों को लेजर के बारे में बताइए नमस्ते नमस्ते नमस्ते बच्चों की विनोद देखो बच्चों ये जो रजिस्टर है ना इसे लेजर बुक कहते हैं अच्छा हाँ और इसके अंदर जो भी कोई अपना पैसा जमा कराता है निकालता है या उसका जो ब्याज मिलता है अच्छा। किस तारीख को जमा कराता है किस तारीख को निकालता है हम्म। और कितना बाकी बचता है वो सारा हिसाब किताब इसमें लिखकर हम इस लेजर बुक को बैंक में अपने पास रखते हैं अच्छा हाँ? अब जो ग्राहक पैसा जमा कराता है उसे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि उसने क्या जमा कराया क्या निकाला हाँ। कितना है जी तो उसके लिए ये पासबुक होती है अच्छा अच्छा देखिए देखिए आप लोगों ने पासबुक ये हाँ, देखो देखो हाँ हाँ, दिखाना आंटी मुझे हाँ ये देखो ये देखो ये पासबुक ग्राहक के पास रहती है और इस पासबुक में जितना पैसा कोई जमा कराता है जो निकालता है और उस पर उसको जितना ब्याज मिलता है और आखिर में हिसाब जोड़कर जो कुछ भी बचता है हम्म, हम्म। वो आज की तारीख तक सारा हिसाब किताब उसमें लिख दिया जाता है अरे वाह हम्म। तो सही है इसलिए जब भी बैंक में अपना पैसा जमा कराने या निकालने आओ ना तो पासबुक साथ में जरूर लानी चाहिए हाँ भाई <laughs> गायत्री जी आपको चेकबुक चाहिए चेकबुक वो क्या होती है हाँ अंकल चेकबुक क्या होती है अम्मा जी ये बैंक आपको एक सुविधा देता है कि घर पर बैठे बैठे आपको कहीं पैसा भेजना हो या आपको हाँ। अपना पैसा मंगवाना हो हाँ। किसी कारण से आप बैंक नहीं जा सकती मान लीजिए हाँ। तो इस चेकबुक में ये देखिए आप जरा दिखाइए ना हाँ ये देखिए ये है चेकबुक और ये एक चेक है है ना हाँ। ये देखिए यहाँ पे नाम लिखिए जिस हाँ। व्यक्ति का नाम आपने चेक काटना है हाँ। उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे तारीख लिखी जाएगी अच्छा और यहाँ पे पैसे लिखे जाएंगे अच्छा अच्छा ठीक है और यहाँ नीचे आपके दस्तखत होंगे हम्म, दस्खत हाँ अच्छा वो जरूरी है हाँ, वो जरूरी है वही दस्तखत कीजिएगा जो आपने आज यहाँ पे दिए हम्म। अच्छा, अच्छा हम्म। एक बात बता मुझे तो दस्तखत करने आवे मैं तो कर दूंगी हम्म। और जिसे नाम है वो क्या करे वो अंगूठा लगा सकता है हाँ और जिसको दस्तखत करने नहीं आते हाँ। जब यहाँ पे हम उसका खाता खोलते हैं फॉर्म भरवाते हैं हाँ। तो उससे अंगूठा लगवाते हैं यहाँ अच्छा ताकि बाद में उस अच्छा। निशान को मिलाया जा सके अच्छा, अच्छा ठीक अच्छा, ठीक चौकीदार हाँ दो बज गए दरवाजा बंद कर अरे चौकीदार ने तो दरवाजे कोई बात नहीं बच्चों अरे अरे अरे अरे बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है तुम लोग बाहर जा सकते हो देखो बैंक का काम जो है वो पांच बजे तक चलेगा है ना अच्छा, अच्छा। दो बजे ये दरवाजा इसलिए बंद किया है कि जो बाहर से लोग आते हैं ना हम्म। जिनके साथ हमारा लेन देन होता है वो काम दो बजे बंद हो जाता है और दो बजे के बाद पांच बजे तक बैंक का अपना काम रहता है अच्छा। और हाँ बीच में आधा घंटा हम लंच ब्रेक भी करते हैं यानी कि खाना खाने का समय भी निकालते हैं अच्छा अंकल सब लोग तो चले गए फिर अब आप क्या करेंगे हाँ। आप बड़े अफसर हैं हाँ हाँ बेटे हम बड़े अफसर हैं हम मैनेजर हैं ना बैंक के तो बैंक के मैनेजर पे पूरी जिम्मेदारी होती है अच्छा। उसको बैंक का प्रधान कहते हैं अब देखो आज बैंक में कितना पैसा जमा हुआ कितने लोगों ने लिया इसका पूरा लेन देन जो है ना उसका सारा हिसाब किताब अब बाद में जो हमारे कर्मचारी है ना वो सब रजिस्टर में एंट्री करेंगे और उसके बाद मैं मैनेजर की हैसियत से उसको चेक करूंगा उसको देखूंगा हम्म। कोई गलती होगी तो उसको ठीक करेंगे है ना अच्छा। तो ये सारा बहुत जिम्मेदारी का काम होता है हाँ हम्म। <laughs> अंकल आपको गणित तो बहुत अच्छा आता होगा <laughs> गणित में तो बैंक वाले बहुत होशियार होते हैं <laughs> हाँ बच्चों सब समझ में आ गया ना हाँ, पूछना है तो पूछ लो हाँ और सुनो बच्चों बड़े होकर हमारे बैंक में ही अपना खाता खोलना चले बैंक अभी आप सुन रहे थे C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम कलाकार अभय भार्गव सरोज भार्गव मंजू मैनी राम मैनी वीना होरा बाल कलाकार आशीष आरती एवं पल्लवी ध्वनियांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा